एकाग्र होती है और प्रज्ञा स्थिर हो जाती है बुद्धि स्थिर हो जाती है और देखो तीसरी बात है ये तो भाई समाधि लगाने की बात हुई हम बुद्धि स्थिर करने चले और आंख बंद करके बाहर का छोड़कर भीतर का स्वाद लेने लग गए तो हाथ तो छूट गया बोले नहीं वो भी स्थान से ही होना चाहिए सारी जिंदगी गुफा में बैठने के लिए नहीं हुआ है भगवान ने पांव दिया है चलने के लिए हाथ दिया है काम करने के लिए जीत दिया है बोलने के लिए अब तुम गुफा में बैठ करके और इसको बिल्कुल निकम्मा कर दो एक महात्मा थे उनके पास एक सत्संगी सज्जन थे उनके मन में प्रश्न था कि हम व्यवहार का काम करें कि भजन ही भजन करें ये प्रश्न था उनके मन जब महात्मा के पास गए तो एक फूलों का गुच्छा लेकर के गए थे उसको गुच्छ गुलदस्ता गुलदस्ता लेकर गए महात्मा के हाथ में दिया तो महात्मा लेकर उसको देखने लगे और ये और ये गुलाब है और ये अमुक फूल है फूल है पांच दस मिनट तक वो गुलदस्ते की ओर देखते रहे वो तो जो सज्जन गए थे उन्होंने कहा महाराज जरा मेरी ओर भी देखिए आप हाँ, तो कुछ दस्ते ही देखने में लग गए तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इसको फेंक देता हूँ आप तुमको देखना बोले ना ना मैं बड़े प्रेम से दूर के बहुत बढ़िया गुलदस्ता ले आया हूँ तो बोले फिर मैं क्या करूँ तो थोड़ा उसको देखिए थोड़ा उसको देखिए महात्मा ने कहा तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है ये ईश्वर का सजाया हुआ गुलदस्ता है इसकी ओर से बिल्कुल अंधा नहीं हो जाना इसकी ओर से आंख नहीं बंद करना और देने वाले को भूल मत जाना जो गुलदस्ता लाया है देने वाला है आराम मत्स्य पश्यंती नतम पश्यती कश्चना लोग गुलदस्ता देखने में लग जाते हैं लाने वाले को देने वाले को नहीं देखते हैं देने वाला और देने वाले को इतना देखने लग जाए कि उसके गुलदस्ते का अनादर हो जाए तो ये भी नहीं चाहिए लाने वाले को भी देखो गुलदस्ते को भी देखो ये व्यवहार की रीति है तो भाई थोड़ी देर के लिए जो हम निष्काम होकर और आत्मतृप्त होकर एकाग्र मन से बैठते हैं भजन करते हैं उसमें हमारे जीवन में शक्ति का बल का आदिर्भाव होता है बड़ी भारी ताकत उससे मिलती है लेकिन जब व्यवहार में उतरते हैं तब बुद्धि को डावाडोल करने वाले बहुत सुधार करते हैं बस ये उससे कहा दिया ये भगवान की कविता है संसार क्या है भगवान की कविता है पश्य देवस्थ काव्यम न ममारा न जीव्यति ये अमर है ये अजर ये भगवान की कविता भगवान अकेले रहते हैं ना तो बोरियत अपना है इसके लिए वो कुछ कविता वविता सुनाते थे नामाने कृत्वा भी वतन जलाते अपने नाम रख लेते हैं बहुत सारे ये यजुर्वेद का मंत्र है नामाने कृत्वा भी वतन जलाते तो स्वयं नाम रखते हैं और बोलते रहते गाते रहते हैं और कविता का संगीत का जो संगीत का आनंद लेते रहते हैं महाराज उनकी कविता में सारे रस होते हैं कहीं श्रृंगार होता है तो कहीं विभक्त भी होता है और कहीं शांत होता है तो कहीं रौद्र भी होता है कहीं करुण हो कहीं हास्य होता है तो कहीं करुण भी हो करुण भी होता है उनकी कविता में सारे रस हैं और ये उनकी रसमयी सृष्टि है कहीं श्रृंगार रस लेकर कहीं विभत्स रस लेकर कहीं शांत रस लेकर कहीं रौद्र रस लेकर ये बह रही है इसमें सारे रस हैं आपको मैं एक सुनाता हूं एक बार मैसूर में वो महाराज की जो चित्रशाला है देखने के लिए गए उन दिनों में बहुत पुरानी बात है अब वो महाराज जहां परस का चित्र हो उसको देख के मन एकाग्र हो जाता था और जहाँ श्रृंगार रस का चित्र हो उसको देख के मन में ललित भाव का उदय होता था और जहाँ विभक्त रस के चित्र थे वहाँ चित्र में गिलानी आती थी हाँ, कहीं आंख में आंसू आ गए करुण रस के चित्र देखकर तो कहीं हास्य रस के चित्र देख के हंसी आ गई अब जब वहां से बाहर निकले तो मन में हुआ क्या आज तो बड़ा आनंद आया तो बड़ा आनंद आया तो ये जो भगवान की सृष्टि है ये सर्वरसमयी है ये देख देख के आनंद लेने के लिए है ये घबराने के लिए नहीं है और इसी से जीवन पुरुष जो है क्या बुद्धि उनको प्राप्त हुई है कि सब दशा में वो आनंद में ही रहते हैं ये एक बुद्धि है ये एक प्रश्न है तो जब व्यवहार में उतरोगे तो सभी रस सभी तरह के चित्र देखने को मिले और काशी में एक भारत माता का मंदिर बना था प्रारंभ में जब जब जाते थे तो बहुत कोई तो प्रारंभ तो में जब बना हम लोगों के सामने बना जब उसको देखने के लिए जाते थे तो जब पराधीन भारत का दर्शन करते थे अंग्रेजों के जमाने में और बड़ा दुख होता था कि हाय हाय हमारा देश ऐसा पराधीन हो रहा है कहीं प्राचीन देखते बना हुआ था नक्शे बने हुए थे प्राचीन भारत को देखते थे कभी भविष्य में भारत का जो चित्र है स्वाधीन भारत को वहां पर कैसा हो तो ये सृष्टि ऐसी है इसमें आपको कैसे चलना चाहिए कि बुद्धि ठीक रहे बुद्धि न बिगड़ने पाएगा चित्र देखो व्यवहार करो पर बुद्धि न बिगड़े उसके लिए भगवान ने स्वाधिष्ठ स्थित प्रज्ञ का तो वर्णन किया दो एक मन एकाग्रता एकाग्रता हो मन में निष्काम हो मन और आत्मतृप्ति हो तब बुद्धि तुम्हारी नहीं बिगड़ेगी पर व्यवहार में कैसे रहो तो दुष्टेश्वरोद्वेजन मना ये देखो ज्ञान हाँ, और जीवन का ज्ञान और कर्म का ज्ञान और आसक्ति का प्रीति का भक्ति का ये समन्वय सुखे सुखेश सुखेशु विगत स्त्रिया नीतराग भयक्रोध स्थितवीर मुनिरुच्यते स्थिर बुद्धि है अब आया दुख दुख तो मना जाते ही रहते ऐसा सृष्टि में कोई नहीं हुआ तदा न बुद्धेरन नल राम रहा नल के जीवन में कितना बड़ा दुख है सर्वहारा हो गए पत्नी का वस्त्र फाड़ना पड़ा चोरी से भागना पड़ा नौकरी करनी पड़ी राजा नल के जीवन में और रामचंद्र का वनवास हुआ युधिष्ठिर को जंगल जंगल में भटकना पड़ा छिप के रहना पड़ा तो ऐसा कौन सा जीवन है जिसमें दुख न आता हो नीचे गच्छति ऊपर दशा चक्र नियमित क्रमेणा कालिदास ने कहा जैसे दर्द का पहिया नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे होता है ऐसे सुख के बाद दुख दुख के बाद परंतु बुद्धि का काम क्या है कि एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा के शुभ बहुवचन हो दुख पर दुख हार परंतु तुम्हारा मन ऐसी जगह बैठा हो कि वो दुख तुमको उद्विग्न न कर सके दुख के निमित्त चाहे कितने भी आए बात तो यह है कि जब हम गलत जगह से सुख लेने लगते हैं तो गलती का परिणाम तो हो ही पड़ता है हम सुख लेते हैं चार जगह से या तो हम विषयों का भोग करके सुखी होते हैं या तो उनका संग्रह करके सुखी होता है और या तो आगे हमको मिलेंगे विषय ऐसी कल्पना करके सुखी होते हैं और या तो किसी काम कर की आदत डाल लेते हैं और जब वो करने को मिले तब सुखी होते हैं तो विषय भोग तो कभी मिले कभी न मिले कभी निछुड़ जाए कभी भोगने की शक्ति न रहे कभी रुचि न रहे है? तो विषय भोगी हमेशा सुखी कैसे रहेगा दुखी हो जाएगा संसार के विषय कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं कभी आके चले जाते हैं कभी उनके भोगने का इंद्रियों में सामर्थ्य रहता है कभी नहीं रहता है कभी उनके भोग में रुचि होती है कभी नहीं होती तो आप यदि विषय भोग से सुखी होना चाहोगे तो हमेशा सुखी नहीं हो सकते जवानी के बाद बुढ़ापा तो आता ही है हाँ, स्वस्थ शरीर में भी रोग आते ही हैं जीवन में हाँ, मृत्यु देखती रहती है अपना रास्ता तो जब हम विषय भोग में अपना सुख रख देंगे तो दुख आना अनिवार्य हो जाएगा अच्छा संग्रह में रख संग्रह तो पराधीन है कभी संग्रह करते बने कभी न बने हाँ, कभी अपना मित्र ही धोखा दे जाए और कभी सरकार ही ले ले और कभी चोर दे जाए कभी बेईमानी कर ले कभी हमसे ये सावधानी हो जाए तो अगर संग्रह में सुख रखोगे तो हो जाएगा कल्पना करते हो आगे सुख आने वाला है और तो आगे का तो एक क्षण का पता नहीं है तुम रहो कि वो रहे तुम न रहो वो न रहे और जो आदत डाल लेते हैं उसमें सुख कहाँ है ऐसी आदत डाल देते हैं महाराज जिस दिन इतना व्यायाम न हो उस दिन शरीर में दर्द होने लगता है तो हम अपने सुख को ऐसी जगह रख देते हैं जहां दुख आकर जाता है इसी से पंडित लोग तो कहते हैं दुख क्या गाण हो दुखेश बना दुख रूप ही ईशु भी ही विघ्नम मानो जैसे दुखेश्वर विघ्न मना दुख के बाण पर बाण तीन पर तीर लग रहे हैं परंतु मन में उद्वेग नहीं है बुद्धि दृढ़ है और भीष्म क्या बुद्धि दृढ़ है महाराज बाण की संख्या पर सो रहे हैं और युधिष्ठ को उपदेश कर रहे हैं और श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं अद्वैत का अनुभव हो रहा है एक और बाण की सज्जा है दूसरी ओर युधिष्ठिर को धर्मोपदेश है तीसरी ओर श्री कृष्ण का दर्शन है चौथी ओर आत्मानुभूति है यदि बुद्धि दृढ़ हो तो मनुष्य कहीं भी जंगल में भी अमंगल बना सकता है बुद्धि चाहिए दुखेश मनुष्य <coughs> ये मत कहो कि सुख जीवन में आवेगा ही नहीं तो, सुख काम दुख है दुख काम सुख है संयोगा प्रयोगांता मरणांतम जीवित सर्वे क्षयांता निचया जो कुछ इकट्ठा करोगे वो एक दिन छीट जाएगा जो ऊंचाई पर उठेगा वो एक दिन गिरेगा जितने संजोग हैं उनमें एक दिन वियोग आएगा और ये जीवन एक दिन मृत्यु के किनारे पहुंच जाएगा तो ये दुनिया में जो आना जाना है इसके ऊपर अपने जीवन को आश्रित नहीं करना तो उसको पकड़ के रखो जहां बधे हुए ये उपनिषद में आता है यथा सूत्रेण प्रबद्ध शक्नी विषम विषम पदत्वा अन्यत्र आयतन मलभ्वा स्वबंधन में वो उपाश्रय जहां ये बधा हुआ है हमारा प्राण बाहर जाके फिर लौट जाता है आंख बाहर जाके फिर लौट जाती है जीप से बोल लेते हैं फिर चुप हो जाती है कि जहां ये हमारा जीवन बना हुआ है मन बाहर जाता है और फिर लौट जहां लौट किया जाता है वहां सत्य को छोड़ो अब एक बात सुनाते हैं दर्शन अरे दर्शन शास्त्र दुख के जो निमित्त हैं वो न जाने कहां से आते हैं कोई कहता है पूर्व कर्म का फल है कोई कहता है प्रकृति का स्वभाव है कोई कहता है ईश्वर का दिया हुआ है कोई कहता है अचानक ही आ जाता है आता है कहां से ये तो मालूम निमित्त इसका अज्ञात है अदर्शनादापति तो पुनस्कार दर्शन कर रहे हैं वैद्य लोग कह देंगे कि कब बात वित्त के विकास से रोक गया कोई कह देगा खान पान के संगम से आया और कोई दूसरा कारण प्रारंभ से आया कोई भूत प्रेत कोई बता देगा कोई ईश्वर बता देगा वो तो अज्ञात पदार्थ के संबंध में अनेक कल्पना होंगी तो दुख तो कहां से आ जाता है इसका पता नहीं चलता तो होंगे कोई निमित्त प्रारंभ परंतु हमारा मन जो दुखाकार हो जाता है वो थोड़ी सी ममता और मोह के कारण है जिससे ममता होगी मोह होगा संबंध होगा उसके जाने पर बिछोड़ने पर दुख होगा और जिससे कोई ममता मोह नहीं होगा उसके जाने आने पर कोई दुख नहीं होगा पर एक तीसरी बात है बाहर के निमित्त तो आते ही जाते रहते हैं उनको तुम रोक नहीं सकते और मन में जैसी आदत डाल रखती है जैसा अभ्यास जैसा संस्कार जिनको मूर्ति तोड़ने का संस्कार डाल दिया जाता है महाराज वो मूर्ति तोड़ने पर खुश होते हैं और जिनको मूर्ति पूजा का संस्कार पड़ा हुआ है, है वो मूर्ति तोड़ने से बहुत दुख दुखी होते हैं दुश्मन के घर में कोई दुख आ जाए तो दुख नहीं मालूम पड़ता अपने मित्र के घर में दुख आ जाए तो दुख मालूम पड़ता है ये मानसिक रचना इसी का नाम है मानसिक संरचना तो दुख सुख बनते हैं मन से परंतु दुख सुख का जो अभिमान है कि मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं ये बनता है बेवकूफी से नासमझी बेवकूफी शब्द सर असांसदिक होगा नहीं भाई वो नहीं बोलते हैं उसको तो बोलते हैं ठीक ठीक ज्ञान न होने से ठीक ठीक समझ न होने से समझ में गलती होने से बीते हुए दुख के कारण भी हम दुखी होते हैं बीत गया तो आया बीत गया अब है कहा उसके कारण दुखी क्यों तो आने वाले आगे दुख के कारण भी आगे आने वाले दुख के कारण भी हम दुखी हो जाते हैं वो तो अभी आया ही नहीं है उसके लिए दुखी क्यों हाँ, अच्छा इस समय जो दुख है वो बीतता जा रहा है इसको पकड़ के क्यों बैठते हो तो इसको बोलते हैं भ्रम दुखी पने का जो अभिमान है वो भ्रम है ना समझी है प्रज्ञापराध है प्रज्ञापराध है और जरक ने लिखा है कि कई लोग प्रज्ञापराध से होते हैं प्रज्ञापराध जन्य हमारी नासमझी से लोग होते हैं बुद्धि ठीक रखनी है तो दुख के चक्कर में मत पड़ो देखो ये पंचभूत का है पंचभूत में है प्रकृति का है प्रकृति में है काल के वेग से आ रहा है चला जाएगा हमारे मन की ऐसी आदत पड़ गई है या इसको देने वाला भेजने वाला हमारा यार है जा रहा है उसका भेजा हुआ अपना दोस्त महाराज कभी चोटी पकड़ के खींच ले कमित को विकास से जरा देखो कौन है देने वाला कौन सुनते एक पति पत्नी यात्रा कर रहे थे पानी के जहाज में समुद्र में बड़ा भारी तूफान है ये हुआ कि अब जहाज डूबा अब डूबा सब लोग घबराए कोई उधर दौड़े कोई उधर दौड़े कोई उधर चिल्लाए अब वो जो पति देव थे उनके वो अपन शांति से बैठ के कुछ लिख रहे थे पत्नी आई बोले अरे तुम ख्याल नहीं करते हो कितना बड़ा तूफान आ रहा है हमारा जहाज डूबने जा रहा है सत्यानाश हो रहा है तुम बैठ के लिख रहे हो तो उन्होंने महाराज अपने कोट में से पिस्तौल निकाली और अपनी पत्नी की छाती पर लगा तो कैसा लगता है तो लगेगा कैसा तुम्हारे हाथ में पिस्तौल है कोई अपने आप थोड़ी चले जब तुम्हारे प्रियतम हो पति हो तुम्हारे हाथ में पिस्तौल है हाँ, तो हमको तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम हमको नहीं मारोगे और हाँ, उन्होंने कहा जिसके हाथ में ये तूफान है वो हमारा पति है वो हमारा प्रिय है हमको उसके ऊपर पूरा विश्वास सुखे सुविगत स्प्रिया दुख की बात को हंसी बना देने का अभ्यास हो जाना चाहिए हो एक, एक बार हम लोग मोटर में यात्रा कर रहे स्वामी प्रेम पुरी जी महाराज सकते थे इतने में पीछे से एक मोटर आई टैक्सी आई और सड़क पर जो गंदा पानी पड़ा था वो सब उसके पहिए से लग के हमारी मोटर में आ गया शीशा खुला था भीग गए तो तो भीग गए और मुंह में पानी चला गया अब हमारा हमारा ड्राइवर बड़ा नाराज हुआ बोले हम अब इसको मजा चखाते हैं तो प्रेमपुरी जी बोले अरे सुनो भाई हमने गंगा जी का जल तो बहुत लिया था और भगवान का चरणामृत बहुत बार लिया था पर ये मोटर का चरणामृत तो आ नहीं मिला हमारा साहब बहुत गए जो लड़ाई की बात थी दुख की बात थी उसको उन्होंने हंसी का उपाय बना दिया हंसी का उपाय बना दिया तो हंसी का निमित्त बना दिया तो मनुष्य को इतना सावधान रहना चाहिए कि जो दुख को दुख के रूप में नहीं हंसी के रूप में मजाक के रूप में बना दे दुख के बहुत दिन सुखेश जगत स्प्रेगा देखो दुनिया में दुख जो है वो आता कैसे आदमी से जो दुख होता है धर्म में दुख का प्रवेश कहाँ से होता है हम अपनी बुद्धि को अपने मन को तो मन समझते हैं और दूसरे को समझते हैं मसीह मन हमारा हो संकल्प हमारा हो इच्छा हमारी हो और उसके अनुसार चले ये तो वो कोई पत्थर का बना लोहे का बना लकड़ी का बना कोई मशीन तो है नहीं उसके अंदर भी मन है उसके अंदर भी मन है तो हम अपने मन को मन समझते हैं दूसरे के मन को मन नहीं समझते और जब वो हमारे मन के अनुसार नहीं करता है तो हमें दुख हो जाता है हम तो ईश्वर से भी चाहते हैं कि हमारे मन का ही करे हम समझते हैं कि ईश्वर की बुद्धि नहीं है जैसी जैसी हम सलाह ईश्वर को देते जाए वैसा वैसा वो करता जाए ये भरतराज लोग भरा कहते हैं ईश्वर हमारी बुद्धि के अनुसार चले हमारे मन के अनुसार काम करे ऐसे लोगों को सृष्टि में बहुत दुख बोलना पड़ता है दूसरे का मन भी देखो हम्म। मेल मिलाप करके चलो हम चाहते हैं कुछ जय बिहारी जी हो सज्जन बिहारी से बोले हे बिहारी बिहारी जी हमको बेटा चाहिए बोले बिहारी जी को तो मालूम ही नहीं था कि उनको बेटा चाहिए अज्ञानी को तो पहले बिहारी जी को पहले अज्ञानी माना क्यों नहीं जानते अच्छा हमको बेटा चाहिए बिहारी जी तो बोले नहीं बोले अच्छा सुन तो लिया बिहारी जी ने सुना जरूर तो। बोले अच्छा दयालु है पूरा भी करेंगे बोले महाराज एक वर्ष के भीतर ही देगा और टाइम भी उनके ऊपर नहीं छोड़ा हाँ, बेटा देना बेटा ही देना बेटी मत देना और एक तरह से बीता देना फिर ख्याल आया बोले महाराज वो स्वस्थ होए दीर्घ जीवी होए सुंदर होए आज्ञाकारी होए हैं तो बिहारी जी बोले कि तुम ईश्वर से बात कर रहे हो कि अपने नौकर पर तुमको भगवान नहीं चाहिए तुमको एक अच्छा सा नौकर चाहिए जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करे तो ऐसे लोग जो है ना वो ईश्वर से माँ से बाप से भाई से बंधु से बड़ों से छोटों से सबसे यही चाहते हैं कि जो मेरे मन में आया सो ही हो गए ऐसे लोगों को दुख बहुत होता है दुख ही होता है अब तो भाई भगवान दुख ही दुख देते हैं कि नहीं दुख ही दुख नहीं देते हैं सुख भी देते हैं देखो यहां बुद्धि का काम है ज्ञान का और हमारी मानस आसक्ति का हमारी प्रीति का यहां समन्वय है समझदारी और क्रिया समझदारी और आसक्ति समझदारी और स्थिति हमारी समझ को शुद्ध ज्ञान को शुद्ध रखने के लिए है हमारी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है अब देखो दूसरी बात है असल में ये हृदय में एक आकाश बोलते हैं उसको कहते हैं कम ब्रह्म खम ब्रह्म ख माने हृदयाकाश खादति सर्वम जो सबको खा जाए उसका नाम होता है खा खादति मिट्टी पानी आग हवा सबको खा जाता है इसलिए उसको बोलते हैं ख शून्य वायुवादी से शून्य को बोलते हैं ख वो है हमारा हृदयाकाश देखो सुख में भी ख है और दुख में भी ख है तो जैसे आसमान में कभी कभी तूफान आ जाए कभी बादल आ जाए और कभी गर्मी बढ़ जाए तो ये हो गया दुख और जब चांदनी रात छिटके और शीतल रंग सुगंध वायु गए और खूब सुखद वातावरण हो शीतल वातावरण हो तो कहते हैं ये सुख है खा के साथ सू लग गया तो सुख हो गया और दू लग गया तो दुख हो गया अब उसमें आप सू दू को मत देखो आकाश को देखो तो जब जब अपने मन की बात आती है सुख क्या है जिसको देख करके अनुकूल वेदना का उदय होता है उसको सुख होता है अनुकूल वेदनीय सुखम ये तो न्याय वैशेषिक की परिभाषा भक्ति दर्शन में ऐसा बोलते हैं कि अपने प्रियतम का जो मिलन है स्मरण है जो स्फूर्ति है वही सुख है सबसे बड़ा सुख मनु जी बोलते हैं कि परपशता को जहां हम पराधीन हैं वहां दुखी हैं और जहां आत्मवश है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम और स्वाधीनता सुख वेदांति लोग जो हैं सुख की परिभाषा करते हैं कि देखो सुख वो है जिसको हम किसी के लिए नहीं चाहते हैं सुख को हम सुख के लिए चाहते हैं अच्छा हम दूसरे को सुख देने के लिए चाहते हैं अगर तो दूसरे को सुख क्यों देना चाहते हो तो दूसरे को सुख देने से हम सुखी होते हैं तो अंत तो गठवा सुख जो है वो आत्मनिष्ठ ही होता है बाजार में क्यों जाते हो वस्तु खरीदने के लिए वस्तु खरीदने से क्या होगा क्या अपने मित्र को देंगे और मित्र को क्यों देते हो उससे हमको सुख होता है तो सुख के लिए सारी दुनिया होती है सुख के लिए दुनिया में सुख किसी के लिए नहीं होता सुख की अंतिम गति आत्मा है इसलिए वेदांति लोग मानते हैं कि आत्मा ही सुख है सुखमस्या आत्मनो रूपा अपना आत्म ही सुखद स्वरूप है तो ठीक है ये तो है पर संसार में भी तो सुख और दुख सुख पर सुख सुख पर सुख आता रहता है और धन का और मिलना सुख है घर में रहना सुख है आप जानते हैं युधिष्ठ से पूछा था आनंद क्या है तो यक्ष ने उसका उत्तर दिया था पंचमे हंस सेवा साकम पचति स्वीकृते अंदरणी चाप प्रवासी चल सब बारिचर बोधते सुख में कौन है बोले एक तो अपने ऊपर कर्ज भरे अंदरणी चल और एक पराय घर में रहना न पड़ रहा है हाँ, भले साग सब्जी पांचवें छठे दिन मिल जाए और उसको खा लिया अपने घर में रहे और भले फूल पत्ता खा के रह ले, लेकिन अपने सिर पर कर्ज न हो और पराए घर का आश्रय न लेना इसको युधिष्ठिर ने इस स्वातंत्र को इस स्वाधीनता को सुख बताया पर ये जो संसारी सुख है वो तो आते जाते रहते हैं ये आया और वो गया तो अब ये बात है कि इनको आने दो आने से रोको मत लेकिन इनकी स्पृहा मत करो ये हमारे घर में ये हमारे घर में हमारे पास बने रहें दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो बनी रहे तो अपनी बुद्धि को ठीक रखने के लिए दुख से लड़ाई मत करो तो आया है बह जाएगा और सुख को पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो वो भी तुम्हारे घर में नहीं रहेगा औरों के घर में भी तो जाएगा ना सुखे सुविधरस रहेगा ये बात कैसे होगी इसके लिए तीन बुद्धि चाहिए गीत राग भय क्रोधा जो सुख देने वाला है उससे राग मत करो और आगे ये नहीं रहेगा इसका भय भी मत करो और जो उसमें बाधा डाले उसके ऊपर क्रोध भी मत करो क्रोध क्रोध क्रोध आने वाला हो और भैया तो थोड़ा खून जो है उसमें गर्मी आने लगी है अब आंख लाल होने लगी है अब जीप से कुछ अंश निकलने वाला है सावधान पहले से ही तय करके रख दो जब एक बार क्रोध में कुछ बोल देंगे और तो तीन दिन नमक नहीं खाएंगे और पांच दिन शक्कर नहीं खाएंगे दो दिन चाय नहीं पिएंगे और तो जब क्रोध आने वाला होगा तो याद आवेगी अरे मेरा नमक मेरा शक्कर मेरी चाय है और जब उनकी याद आने लगेगी तो जिस पर क्रोध है ना वो आंखों से ओझा हो जाएगा पहले से नियम करते हैं ईश्वर की ओर से कोई काम हुआ है प्रकृति की ओर से हुआ है महाभूत का स्वभाव है ये हाँ, हाँ। ये देखो मौन हो जाओ चौक नहीं अब आधा घंटा नहीं बोलेंगे क्रोध आ गया आधा घंटा नहीं ये काम तो मैं चले जाओ थोड़ा रो लो पर दूसरे को क्रोध आया हमको और दुख पहुंचा दे दूसरे को तो जब अपने जीवन को ऐसा नियमित बनाएंगे अपने जीवन को नियमित बनावेंगे तब आपकी बुद्धि स्थिर होगी जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है कोई मर्यादा नहीं है उसकी बुद्धि में बल नहीं है जो नियम का पालन करता है मर्यादा का पालन करता है कोई व्रत ग्रहण करके और कष्ट सह के भी उसको पूरा करता है उसके जीवन में बल का उदय होता है तो नायब आत्मा बल ही ने नजर दिया ये आत्मदेव निर्बल बलहीन को नहीं मिलते हैं आत्मबल चाहिए बुद्धिबल चाहिए मनोबल चाहिए बल चाहिए नायम आत्मा ही न नायम आत्मा बलहीने न तो बुद्धि को स्थिर रखने के लिए ये डावाडोल न हो जाए थोड़ा सा प्रलोभन देख करके विचलित न हो जाए और थोड़ा सा बाधक निमित्त देख करके और को पूरा न हो जाए बुद्धि को बुद्धि को ठीक रखो तो जिससे तुम प्रेम करोगे यदि बुद्धि में स्थिरता ना हो तो भगवान से प्रेम करके हमको तो क्या निहाल कर देंगे महाराज एक सज्जन थे तो उनके ऊपर कोई संकट आया था तो उनको किसी ने बताया तुम भगवान की अगर पूजा करो मानता मानो पूजा करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा अब वो महाराज पहली बार किया तो काम हो गया उनका एक अदालत में जीत तो सामने वाले ने अपील कर दी तो दूसरी बार भी पूजा तो कर रहे थे लेकिन हार गए हार गए तो उठा के भगवान की मूर्ति को बहुत फेंका भगवान भी गुस्सा ये हिमाकत भगवान पर भी गुस्सा करते हैं चित्र फोड़ देते हैं ऐसे लोगों को हम जानते हैं शीशा शीशा में बड़ा हुआ चित्र और तोड़ देते हैं और भोग लगाना बंद कर देते हैं पूजा बंद कर देते हैं हमारे मन का क्यों नहीं किया फिर उन्होंने अपील की अपील की महाराज तो ब्राह्मणों ने कहा अनुष्ठान कराओ ठीक ठीक तो फिर सफलता हो गई फिर पूजा पत्री बैठी फिर जीत गए फिर बड़ा उत्सव अब ये बुद्धि क्या है ये अपनी जीत के साथ जुड़ी हुई है वो तो जब हार होती है तब डो और जब जीत होती है तब फूल गई कभी शोक हो जाता है कभी सुखंडी हो जाती है कभी सूख जाते हैं कभी फूल जाते हैं तो ऐसी बुद्धि स्थिर नहीं होती देखो तो अपने जीवन में जो अपने भगवान से प्रेम करना चाहते हो अपने प्यारे से प्रेम करना चाहते हो और अपने व्यापार को ठीक ठीक करना चाहते हो तो सभी काम में ये बुद्धि का जो है वो प्रयोग होगा बिना बुद्धि के प्रयोग के और बिना स्थिर बुद्धि के डावाडोल होने वाली बुद्धि से कोई काम बनता नहीं है तो जीवन में सतत बुद्धि और कर्म का समन्वय है बुद्धि और भक्ति का समन्वय है बुद्धि और योग का समन्वय है बुद्धि और ब्रह्म ज्ञान का समन्वय है अभी आपको दो दिन और सुनाएंगे की अपनी अपूर्वता होती है एक से दूसरा का दास नहीं हो पा रही अपना अपना काम दोनों और अंत में फल सम्यक अन्वय एक के पीछे एक चलता है परिणाम अन्वयनम अनुगति भक्ति के पीछे ज्ञान चले ज्ञान के पीछे भक्ति चले दोनों मिल मिला के अपना काम एक काम दोनों मिल के एक काम सब समन्वय होता अधिगत चिकित्सार्थ शारीरिक संबंध शारीरिक संबंध बना रहे इतना रस आवेगा उसमें ऐसा मधुमेह होगा वो जो संबंध संसार के दूसरे संबंध दो ही सदन संबोध भगवान के साथ जोड़ लो इतना आनंद है उसमें इतना आनंद है कि संसार का आनंद स्वीकार कर सकते शारीरिक संबंध है मिलना जुलना है बातचीत है और अर्जुन कहते हैं कि हमारे तुम्हारी ऐसी मित्रता है कि मैं कभी गाली गलौज भी कर बैठा सत्य की मतवा और सफल हे कृष्ण हे यादव हे अदानता महिमा करे मया प्रमादा प्रवेश हे कृष्ण हे यादव हे सखा हे ये रफ्तार हमें ये प्रश्न उठाया है आलम्बन विभाव तो मित्र मित्र होते हैं या प्रेसी प्रियतम होते हैं या माता पुत्र हो गए हैं ये तो स्वयं के आलम्बर विभाव है लेकिन उद्दीपन विभाव प्रेम का क्या है हमें प्रेम को उकसाने वाला जैसे दिया टिमटिमा रहा हो तो थोड़ी थोड़ी बत्ती उसकी उत्साह तो प्रज्वलित हो जाता है इसको उद्दीपन बोलते हैं उद्दीपन विभाव तो प्रेम को उद्दीप्त करने वाला दीप्त उद्दीप्त सुदीप तीन भाव इसके तो प्रेम को बढ़ाने वाली क्या तो प्रीति संदर्भ में इसका निश्चय किया विनयी के प्रति प्रेम बढ़ता है स्वाधीन के प्रति प्रेम बढ़ता है और प्रेमी के प्रति प्रेम बढ़ता है जो हमसे प्रेम करेगा उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा